Buddha सुख सुखसम्पत्सुतसेन सहायी जय प्रताप बल बुद्धि बड़ाई नित नूतन सब भारत जाई हिम प्रतिलाभ लोभ अधिकाई प्रतिलाभ लोभ अधिकाई अति बल कुम्भकर्णय सुभ्राता यही कहु नहीं प्रतिभट जग जाता करई पान सो वही खट माता जागत हो पुरुषाता

वारिदनाथ जेठ सुततासु वारिदनाथ जेठ सुततासु भट महु प्रथम लीक जग जासु भट प्रथम लीक जग जासु जहि न हो हिरण सन मुख कोई न हो हिरण सन मुख कोई सुरपुर नितहि पावन होई सुरपुर नितहि पावन कुमुखय पङ्कन् कुमुखय कम्पन कुलजरस धूमकेतयति काय एक एक जग जीत सक ऐसे सुभट निकाय ऐसे सुभट निकाय सियावर रामचंद्र की जय पवन सुत हनुमान की जय बोलो हरि पवन की जय तो कल देख रहे थे कि रावण का जन्म उसने तपस्या की वरदान प्राप्त किया उसके बाद वो उसका विवाह मंदोदरी से हुआ बाकी दोनों भाइयों के भी विवाह हुए लंका में जाकर के वो बात करने लगा <clears throat> और उसने पुष्पक विमान भी कुबेर से छीन लिया इस प्रकार से उसकी जो है वो <clears throat> भौतिक समृद्धि बढ़ती जाती है और सब वो इस प्रकार से एकत्र करता जाता है विजय प्राप्त करता जाता है और फिर उसने अपने आप को ये भी देखा कि हमने अपने ताकत कितनी है तो ताकत भी किसकी देखी अपने भुजाओं की ताकत शारीरिक बल कितना है ये देखा तो कैलाश पर्वती उठा लिया इतनी शक्ति उसमें <clears throat> तो वो बहुत प्रसन्न हुआ अब रावण की प्रसन्नता सुख के हेतु क्या क्या है <clears throat> रावण ने तपस्या किया वरदान प्राप्त हुआ कि तुम कभी नहीं मरोगे <clears throat> राम बानर और मनुष्यों को छोड़ करके कोई तुम्हें जीत नहीं सकेगा तो सबसे पहले सुख का कारण ये है कि ऐसी आयु उसकी दीर्घ आयु उसकी हो गई पहला सुख दूसरा सुख उसका हुआ ये कि मंदोदरी से उसका विवाह हो गया मैदान की पुत्री ने कर दिया तीसरा सुख उसका क्या हो गया कि सोने की लंका उसे मिल गई वहां उसने अपनी राजधानी बना ली ये सब उसका उसके बाद सुख हुआ वहां सब जगह सुख का नाम लेते गए और फिर जब रावण ने कैलाश पर्वत उठा लिया और उसे लगा कि अपने भुजाओं का बल तो बहुत अपार बल है तो फिर उसमें भी सुख हुआ ये देख रहे थे कि चला बहुत सुख पाए मैंने जब उसने कैलाश पर्वत उठा लिया तो उसे बहुत सुख लगा देखा कि शरीर में खूब ताकत है ये भी एक सुख की बात हो रही तो इस प्रकार से उसके सुख ऐसे ही सुख उसके बढ़ते जा रहे हैं तो वो कहता सुख संपत्ति सुख सेन सहाय ये सुख के सभी साधन उसके यही हैं संपत्ति है सुत है पुत्रादि आदि हैं सेना खूब है सहायक उसके बहुत से हैं बस यही सब उसके सुख के हेतु इन सबसे वो सुखी होता जा रहा है जय प्रताप बल बुद्धि बढ़ाई वो विजय प्राप्त करता जाता है उसका प्रताप बढ़ता जाता है बल बढ़ती जा रही है बुद्धि बढ़ती जा रही है बस इन्हीं को लेकर के वो बहुत सुखी है नित्य न्यूनतम सब बढ़ते जाए रोज रोज ये सब बढ़ते चले जा रहे हैं और जिन प्रति लाभ लोग अधिकाई ये कैसे बढ़ते चले जा रहे हैं जैसे कि <coughs> भौतिक समृद्धि की जैसे जैसे व्यक्ति को लाभ होता है वैसे ही वैसे लोभ बढ़ता है लोभ मैंने और प्राप्त करने की इच्छा होती है <coughs> जितना प्राप्त हो गया उतने से संतोष नहीं होता चाहता कि कुछ और प्राप्त हो बस जैसे वो लोभ बढ़ता जाता है धन संपत्ति बढ़ती जाती लोभ बढ़ता जाता है भौतिक समृद्धि बढ़ती जाती है बस इसी प्रकार उसके लोभ की तरह से बढ़ता जाता है तो कहने के तात्पर्य कि लोभ का कहीं विराम नहीं है ऐसा नहीं कि लोभी व्यक्ति को कहीं स्थान पर किसी भी स्तर पर पहुंच करके अब वो कह दे कि हमने बहुत प्राप्त कर लिया अब हटाओ अब दूसरी दिशा में प्रयास करो कुछ आध्यात्मिक चिंतन करो परमात्मा को प्राप्त करो ऐसे करके उसके मन में नहीं आता और अगर धर्म के द्वारा आवे भी तो हो सकता है कि उसको कभी वैराग्य आवे परमात्मा की तरह लगे भी लेकिन जब अनर्थ के द्वारा अधर्म के द्वारा संपत्ति आती है तब तो कोई प्रश्न ही नहीं उठता कि उसको अध्यात्म की तरफ ध्यान जाए फिर तो वो बिल्कुल पक्का विश्वास हो जाता है कि अधर्म ही दुराचार ही यही एकमात्र सुख का साधन है और जो धर्म की बातें हैं वो पाखंडियों की झूठ मूठ की बातें हैं उसमें पढ़ना मूर्खता का लक्षण है फिर कैसे जाएगा को वो स्वयं प्रैक्टिकल देख रहा है अपने जीवन से तो किसके कहने से मान ले कि, कि हाँ धर्म में भी सुख होगा परमार्थ में भी सुख होगा मान ही नहीं सकता उसका सवाल ही नहीं आता तो इसलिए वो सदा फिर अधर्म में ही बढ़ता जाएगा अधर्म में ही बढ़ता चला जाएगा <clears throat> ये मनोविज्ञान मान बुद्धि की किस प्रकार से बुद्धि कार्य करती है <clears throat> बस उसका परिणाम ये तो ये फिर दिनों दिन उसी प्रकार से अधर्म के द्वारा संपत्ति इत्यादि को बढ़ाता चला जा रहा है तो ये तो हुआ ब्राह्मण की बात अब ब्राह्मण के परिवार की बात को देखो कैसे कुंभकर्ण जो है वो कैसा है उसकी क्या स्थिति है तो उसके परिवार के जितने लोग हैं उसके सब सहायक भी उसी प्रकार के हैं कहते कुंभकर्ण अति अतिबल कुंभकर्ण असभाता और उसका भाई जो है कुंभकर्ण जैसा उसका भाई माने स्वयं रावण बड़ा शक्तिशाली और उसका कुंभकर्ण भाई जो है वो भी उससे कम शक्तिशाली नहीं बड़ा शक्तिशाली वो अति बल बहुत बल उसमें वो और <clears throat> यही कम नहीं प्रतिभट जग जाता माने उससे बहादुर उसको सामना करने वाला संसार में कोई पैदा नहीं हुआ इतनी शक्ति उसकी बात थी उसकी ऐसा शक्तिशाली वो हुआ और करे पान सो सो वही सतमाशा करई पान के माने वो मदरा पान करे और खूब मांस इत्यादि खाए <clears throat> और फिर छह महीने तक खूब सोता रहे ये उसका जो है वो जीवन का विधान जैसे बरदानी उसने प्राप्त किया तो छह मास तक सोते रहे तो यही दिखा दिया कि अब वो जो है छह छह महीने तक सोता रहता है <clears throat> जागत हो पुत्राशा और जब छह महीने के बाद जब कुंभकर्ण जब जागता है तो जागते हुए तो तीनों लोगों में भय पैदा हो जाता है सब जगह इस प्रकार की खबर फैल जाती है कि जाग गया जाग गया जाग गया सावधान क्यों कि पता नहीं किसको कितना खा जाए वो तो सब अपने होशियार हो गए तो इस प्रकार से सब जगह सारे संसार में भय व्यास हो जाए और जौ गणपति आहार कर सोई कहते अगर वो <clears throat> इसी तरह से रोज इतना खाना खाता रहे और सो गए नहीं तो तो कहते हैं क्या हो कि विश्व वेग बस चौपट हो ही सारा विश्व शीघ्र ही सारा खा जाए और सब चौपट हो जाए सब समाप्त हो जाए इसलिए वो सोता रहता है यही अच्छा है तो समर धीर नहीं जाई बखाना और वो युद्ध में इतना धीर इतना दृढ़ता के साथ युद्ध करने वाला एक ही समय अति बल अमित वीर बलवाना तो उसके समाना और कोई दूसरा बलवान शक्तिशाली नहीं समरधीर अब जब लंका कांड में देखेंगे वो युद्ध करता है आता है तो वो अपने आप को इतना शक्तिशाली पाता है कि वो इसकी चिंता नहीं करता कि हम सेना लेकर के युद्ध करने के लिए मैदान में जाएं वो बस अकेले ही युद्ध करने के लिए चल देता है कहता कि सेना सेना क्या हमारे साथ वो क्या हमारी सहायता करेगी ही तो आकर के लड़ता है और लड़ता रहता है <clears throat> वो जो कुछ पत्थर पत्थर फेंकता हो जो कुछ मारता हो जो कुछ <clears throat> करता हो हाथों से पकड़ पको के खा जाता हो बानरों को तो वो अपने करता रहता है <clears throat> लेकिन जब उसके हाथ पैर काट दिए जाते हैं तो भी ऐसा नहीं कि हाथ पैर कट गए तो भागे ऐसे नहीं जाता रथ के ऊपर बैठ के भी नहीं आता हम्म, वो जानता जिस रथ के ऊपर बैठ जाएंगे वो तो चरमरा करके पहिए ये टूट टाट जाएंगे फिजूल में रथ के ऊपर बैठ के क्या जाना तो इसलिए पैदल जाता है और हाथ पर कट जाते हैं सर तो भी वहां से युद्ध क्षेत्र से भागता नहीं है ऐसा <clears throat> तो उसी की बात कहते समर धीर नहीं जाए बखाना कैसा वो युद्ध में धैर्य उसका वर्णन नहीं किया जा सकता और तेईसम अमित वीर बलवाना और उसके समान ही रावण के और जो साथी सेनापति तैयारी हैं वो भी इसी की तरह से बड़े बड़े बलवान हैं अब उनका सबका कहाँ तक ज्ञान <clears throat> कुर्द अकम्पन तमाम जिनके नाम उनके से आगे कुमुख अकम्पन इत्यादि बताते हैं ये सब उनके नाम उनके जो है सेनापतियों के नाम हैं वो भी सब इसी प्रकार से बड़े बलवान हैं अब पुत्र की बात कहते हैं कुंभकर्ण छुप वो विभीषण छुप जाता है विभीषण इनके जैसा में जैसा रावण है उस प्रकृति का नहीं है इसलिए उसका वर्णन बीच में नहीं करते भारत नाथ चेत सुतासु अब कहते हैं कि वो वारिदनाथ मैंने उसका पुत्र का नाम मेघनाथ वो जो है मेघ के समान गर्जना करने वाला वो मेघनाथ जेठ तासु सबसे बड़ा पुत्र उसका वही है वो भी बड़ा शक्तिशाली भट महू प्रथम लीक जासु उसके वीरों में से संसार में सबसे ज्यादा उसका पहली पंक्ति में नाम उस समय जब वीरों के नाम लिखे गए तो सबसे पहले किसका नाम मेघनाथ का नाम लिखो उससे ज्यादा वीर कोई नहीं जय न हो हिरण सन्मुख कोई कहते हैं उसके साथ सामने में कोई भी युद्ध में आ, आता नहीं सब भाग जाते थे युद्ध में जानते थे कि ये इससे हम जीत नहीं सकते आगे देखें चल करके वर्णन आएगा मेघनाथ जब इंद्रलोक में जाता है वहां लड़ने के लिए तो देवता लोग जहीं देखते हैं कि मेघनाथ आया तो सब भाग खड़े होते हैं कोई तो उसके सामने युद्ध करने को तैयार तो जही जही न हो रण सन्मुख हो और सुरपुर नित ही परावन हो सुरपुर मने स्वर्गलोक में तो वहां पर स्वर्गलोक में जब वो जाता है तब तो वो वहां के रोज लोग भाग खड़े होते हैं जैसे ये मेघनाथ पहुंचता है तैसे देवता लोग सब भाग भाग करके छिप जाते हैं इधर कोई सामने उसके लड़ने के लिए नहीं आता ऐसा वीर बलवान है गुमुख <clears throat> अकम्पन कुलित रस धूम है ये और उन साक्षरों के नाम है जो सेनापति त्याग है एक का नाम कुमुख है एक का नाम अकम्पन है एक का नाम कुलित रस है एक का नाम केतु है एक का नाम अतिकाय है ये सब उनके नाम है सब निशाचरों के नाम है सेनापति सब है ये एक एक जग जीत सक एक ही इनमें से सारे विश्व को जीत सकता है ऐसे सुभट निकाय ऐसे जो है बहुत से वीर ऐसे हैं उनके क्या गिनती गिनाई जाए <clears throat> ये तो ऐसा वर्णन जैसा है <clears throat> वो तो एक भौतिक दृष्टि से है ही है कि दुराचारी भ्रष्टाचारी व्यक्ति जिस प्रकार से होते हैं वो बड़े शक्तिशाली होते हैं <clears throat> उनका सामना करना किसी की हिम्मत की बात नहीं पड़ती है वो अपनी शक्ति इस प्रकार से अर्जित करते जाते हैं <clears throat> और उनकी संपत्ति भी बहुत बढ़ती जाती है जैसा इसमें वर्णन है ऐसे समय समय पर जहाँ कहीं देखें तहाँ ये होता ही रहता है लेकिन एक रामचरित मानस का जब अध्ययन करते हैं तब दूसरे प्रकार से भी देख लेते हैं <clears throat> माने ये दृष्टि तो बिल्कुल ठीक है कि <clears throat> रावण जैसे द्राचारी भ्रष्टाचारी बड़े शक्तिशाली होकर के बड़े सुखी दिखाई देते हैं <clears throat> लेकिन ये निशाचर एक और जैसा कि कल बताया था दैवी संपत्ति और आसुरी संपत्ति ये सब निशाचर आसुरी संपत्ति के प्रतीक हैं हर व्यक्ति के अंदर भी यह आसुरी संपत्ति और दैवी संपत्ति है <clears throat> और वो इनके दोनों के बीच में संघर्ष होता रहता है आसुरी संपत्ति यदि बढ़ जाए तो फिर जो दैवी संपत्ति है वो पलायन कर जाती है भागने लगती है छिपने लगती है फिर वो दिखाई नहीं देती है <clears throat> जब आसुरी संपत्ति दबे नष्ट हो समाप्त हो तब दैवी संपत्ति का विकास होता है तब वो दिखाई देती है दैवी संपत्ति के मैंने सदगुण व्यक्ति में आते हैं आसुरी संपत्ति के मैंने दुर्गुण <clears throat> अब दुर्गुण का एक नाम जैसे जो है ये है समझाने के लिए एक संकेत करने के लिए तुलसीदास जो संकेत बीच बीच में करते रहते हैं जो अभी बीच में बोल दिया कि जिन प्रतिलाभ लोभ अधिकारी जैसे लोभ है ये ये लोभ जो है आश्रम संपत्ति है व्यक्ति के अंदर जो लोभ है <clears throat> वो कोई दैवी संपत्ति नहीं है आश्री संपत्ति है तो ये आश्री संपत्ति जैसे लोभ है इसी प्रकार काम क्रोध लोभ मोह मद मत्सर छल प्रपंच पाखंड इत्यादि ये सब जो है ये है आश्री संपत्ति है ये आसर संपत्ति एक बढ़ती है तो उसके साथ दूसरे भी बढ़ते जाते हैं इन सबका एक बहुत विशाल परिवार होता है जैसे रावण का परिवार है तैसे अपने अंदर अगर मोह अविद्या उत्पन्न हुई अज्ञान आया मोह उत्पन्न हुआ तो उस मोह के साथ साथ ये सब अहंकार भी आएगा <clears throat> घमंड भी आएगा कर्कशता भी आएगी क्रूरता भी आएगी पर पीड़ा पहुंचाने की प्रवृत्ति भी आएगी धन संपत्ति का लोभ भी आएगा धन संपत्ति एकत्र भी करेगा एकत्र करके उसका गर्व भी करेगा ये सब क्रमशाह इसकी जितनी भी आश्री संपत्ति है वो सब उसकी एक के बाद एक के बाद एक के बाद एक बढ़ती चली जाएंगी ऐसा व्यक्ति फिर अपने आप को सबसे अधिक बुद्धिमान समझेगा कि मेरे समान बुद्धिमान कोई नहीं मेरे समान जो है ज्ञानवान कोई नहीं तो उसको कहते हैं उसकी बुद्धि भी करते हैं बल बुद्धि बढ़ाई ये सब उसकी जो वो और विचित्र बात यह है कि संसार में ऐसे लोगों की बड़ाई भी होती है प्रशंसा भी लोग करते हैं अरे साहब उसको क्या कहने है उसके पास सपार संपत्ति है कोई उसका जो है कोई नाप तौल नहीं उसकी अरे बड़ा महान व्यक्ति है इस प्रकार की उसकी प्रशंसा भी करते हैं लोग बाग तो उसे बड़ाई भी प्राप्त होती है कुछ बड़ाई लोग बाग जो करते हैं तो उसके मुंह देख भी बड़ाई करते हैं कि इसकी बड़ाई करेंगे तो ये खुश होगा और कम से कम हमारे हमको जो है उसमें अपना जहाँ जहाँ वो पीड़ा पहुंचाता लोगों को उसमें हमको गिनती नहीं गिनेगा अपने आप में हमको मान लेगा का ये तो हमारी जैसा है क्योंकि हमारी प्रशंसा करता है इसलिए हमारे ही <clears throat> वंश का है हमारे ही <clears throat> वर्ग का है इसलिए इसको क्या पीड़ा पहुंचानी इसलिए व्यक्ति कभी कभी ऐसे लोगों की प्रशंसा उससे अपनी रक्षा पाने की इच्छा से उसकी प्रशंसा करने लगते हैं <coughs> कुछ लोग उसके पीठ पीछे भी प्रशंसा करते हैं वे लोग पीठ पीछे कौन प्रशंसा करते हैं जिन लोगों के मन में भी उसी प्रकार के संस्कार समान रूप के संस्कार वाले व्यक्ति उनकी प्रशंसा भी करेंगे <coughs> यदि एक व्यक्ति ने भ्रष्टाचार के द्वारा <coughs> सौ करोड़ रुपए इकट्ठे कर लिए तो दूसरा व्यक्ति जो वो हो जिसने कि एक ही करोड़ अभी इकट्ठे कर पाए हैं तो सौ करोड़ वाली की प्रशंसा करेंगे अरे साहब उसकी क्या कहने हैं उसने तो सैकड़ों करोड़ रुपए इकट्ठे कर लिए हैं इतना अर्जित कर लिया है और हमारे पास उसकी तुलना में है ही क्या इसलिए हम उसके सामने हीन हैं छोटे हैं कम हैं वो बहुत बड़ा है तो ये जो स्थिति जगत की इस प्रकार की है उसका भी शास्त्र ऐसे नहीं कि शास्त्रकार इस बात को जानते नहीं कोई कहे कि शास्त्रों में तो बातें हवाई बातें लिखी हुई दूसरे लोग की बातें नहीं उन्हें क्या पता दुनिया में क्या हो रहा है ऐसा नहीं है उनको शुभ मालूम है कि दुनिया में क्या हो रहा है किस प्रकार की प्रवृत्ति है बल्कि इन्हीं लोगों के लिए शास्त्र भी हैं कि अगर कभी आंखें कान खुले परेशानियां हमें बुद्धि जरा फिरे तो इधर की तरफ ध्यान दें और धीरे धीरे करके इस तरफ से हट करके सन्मार्ग पर आवे परमार्थ की तरफ आवे दैवी संपत्तियों का महत्व समझें आश्री संपत्ति को छोड़ें ऐसी कुछ प्रेरणा उनको मिले इसलिए ये शास्त्र उनके लिए सज्ञ है ये <clears throat> तो मूल्य बुद्धि जो होती है जिस व्यक्ति को भौतिकता की मूल्य बुद्धि है, और हाँ, जैसे अष्टावक्र गीता देख रहे हैं तो उनकी बुद्धि कैसी है <clears throat> अज्ञान में है जो व्यक्ति अज्ञान में होगा वही <clears throat> जगत को शरीर को भौतिक समृद्ध को इंद्रिय भोगों को बस यही उसे सत्य दिखाई देंगे और यही सुखदायी दिखाई देंगे और इनको मजबूती से पकड़ करके बैठेगा उनमें खूब आसक्ति भी रखेगा <clears throat> यह अज्ञान की परिधि है अज्ञान की परिधि घेरे के भीतर इसी प्रकार का होता है जब इस अज्ञान की निवृत्ति हो तब व्यक्ति को दिखाई दे कि सत्य क्या है और उस सत्य में स्थित होकर के सब इधर से वैराग्य भी हो <clears throat> अधर्म इत्यादि में प्रवृत्त होकर पड़ पीड़ा पहुंचाने का जो व्यक्ति का स्वभाव है वो धीरे धीरे छोड़े पश्चाताप करे उधर से हटे <clears throat> इसके लिए जो है वो सत्संग और साथ श्रवण की आवश्यकता पड़ती है वो जगह जगह तुलसीदास जी कहते रहते हैं तो उसको सुनना चाहिए तो इस प्रकार से देखते हैं कि ये <clears throat> जितने हैं निशाचर वे सब के सब आश्री संपत्ति के हैं और उनके आसुरी स्वभाव नाम भी उनके देखो रावण का नाम जैसे रावण का नाम जो रुलाने वाला है जो जो दूसरे को कष्ट दे पीड़ा पहुंचावे और लोग रोए अगर रोए खूब उसके सामने लोग बाग तो इसके माने रावण का नाम सार्थक है और अगर रावण के सामने कोई हंस दे प्रसन्न दिखाई दे तो वो रावण का दुश्मन है हनुमान जी रावण के दरबार में पहुंचे तो हनुमान जी जरा भी डरे नहीं तो बस रावण को ही लगा ये कैसा व्यक्ति रावण बार बार कहे तुमने सुनी नहीं कि रावण कैसा होता है कैसे दुनिया भर को रुला रहा है और तुम इस प्रकार से निर्भय होकर के हमारे सामने खड़े हो उसे आश्चर्य हो रावण को कि कैसा व्यक्ति हमारे सामने जो है वो निर्भय खड़ा हुआ है <clears throat> ऐसे अंगद जब रावण के दरबार में पहुंचता है तब अंगद भी उनके सामने निर्भय रहता है तो रावण बड़ा परेशान होता है कि दुनिया भर को तो मैंने रुला दिया लेकिन इसको ही क्यों नहीं रुला पा रहा तो उसकी महिमा निशाचरण की यही है कि कितना किसको रुला दू ऐसे इसका रावण करा और फिर <clears throat> ये जो है रुलाने वाला है कौन मोह रावण थोड़ी रुलाता है ये दुनिया जो रो रही है वो मोह के कारण जितने दुख हैं वो सबको अपने अपने मोह के कारण होते लेकिन अपना मोह समझते नहीं दूसरे को कारण कहते अरे साहब क्या बताओ आप तो बहुत दुख देते हो हम्म? क्यों दुख देते हो अपना मोह से कोई मतलब नहीं दुख देते हैं दूसरे लोग बहुत दुख देते हैं बस इसकी शिकायत <clears throat> लेकिन ये नहीं पता अपना जो दुख है वो अपने ही मोह के कारण से है <clears throat> जब बता दिया अष्टावक्र का गीता के याद रखो जहां द्वैत है वहां मोह है और जहां मोह है तहां दुख है अब उस दुख को दुनिया में भला कौन छोड़ा सकता है जब तक द्वैत है तब तक दुख है ही है और <clears throat> वहां बता दिया कि इसकी कोई औषध नहीं सिवाय इसके कि वो जो एक तत्व परमात्मा तत्व है उसका ज्ञान हो ज्ञान उदय हो तब दुख दूर हो तो ये निशाचर जो है ये सबके साथ <clears throat> ये <clears throat> द्वैत और अज्ञान तो है ही है उसी से उत्पन्न होने वाली सारी वृत्तियां मोह अहंकार <clears throat> ये बारिदनाथ जो है वो काम का प्रतीक है हा? काम क्रोध लोभ मोह मद मत्सर ये सब निशाचर है <clears throat> और जैसे कुमुख नाम आता है तो मुख तो मुख और सुमुख अब देखो कहीं कहीं आता सुमुख सुलोचन ही सुमुख के माने क्या जो मधुर बोले तो तो सुमुख प्रिय बोले सुमुख <clears throat> और कुमुख बस अब कुमो को वो निशाचर शक्ति से शरीर से चाहे जितना विशाल विकराल हो लेकिन उसका नाम यही नाम से ही अर्थ लगता है कि अगर को, कोई व्यक्ति कटु वचन कटुवादी है कर्कश स्वभाव का है इसके माने वो निशाचरी प्रवृत्ति है <coughs> अकंपन हा? अकंपन के माने वो हो जो कांपे नहीं हम्म, डरे नहीं कहीं जो <coughs> जो व्यक्ति दुराचार से भ्रष्टाचार से नरक से नहीं डरता वो अकंपन डरना चाहिए शास्त्र ये भी कहते हैं कि देखो जहां डरने की बात है वहां डरना चाहिए और जहां डरने की बात देखते वहां नहीं डरता निडर है तो वो दुष्ट है भ्रष्ट और जहां नहीं डरने की बात है अगर वहां डरता है तो वो गलती करता है नहीं डरने की बात है जैसे धर्म में है परमार्थ में है आत्मज्ञान में है वहां डरने की बात नहीं है <clears throat> धर्म से लोग डरते हैं कि धर्म के मार्ग पर चलेंगे तो बस सब नष्ट भ्रष्ट हो जाएगा भीख मांगते घूमेंगे कुछ रह नहीं जाएगा हम्म, तो धर्म से डरते हैं परमार्थ से डरते हैं तो वहां डरने की बात नहीं है लेकिन जहां डरने की बात है वहां नहीं डरते हैं तो ये जो है वो <clears throat> ये भी दुष्प्रवृत्ति है मूर्खता का लक्षण है तो यह कंपन है पुलिस रद है ये पुलिस रद माने जिनके की दांत वज्र के समान है सबको चबा जाए खा जाए ऐसे कहते हैं क्या सबको खाई जाता है हा? तो खाई जाता है कि माने उनको सबको चाहे उनके धन संपत्ति हरण कर रहा हो चाहे पीड़ा पहुंचा रहा हो इसी प्रकार से बोलते हैं तो ये पुलिस रद जो है ये भी निशाचरी प्रवृत्ति है इसलिए उसका नाम पुलिस रद रखा रखा गया धूमकेतु आप जानते हैं तो ऐसा पुच्छल तारा है कि जब उदित होता है तब अकाल पड़ता है वकाल का सूचक है <clears throat> तुलसीदास ने आगे चल करके धूमकेतु के समान बताया भी इन साक्षरों को <clears throat> कि जहाँ ये <clears throat> धूमकेतु की तरह से उदित हुए बस वहां पर फिर बिना से विनाश हो जाता है तो ये सब जगत में विनाश लीला करने वाले सब ये हैं इसलिए निशाचरों को धूमकेतु भी नाम कर रखा जा सकता है और अतिकाय काय के मैंने काय मैंने शरीर अति काय मैंने शरीर खूब भारी शरीर करते चले जाओ खूब सगड़े मोटे करे और देहाभिमानी देह को ही अपना समझने वाले और देह में जितनी ज्यादा ताकत है जितना ज्यादा विशाल शरीर है उतना ही ज्यादा उनको अहंकार शरीर का है तो बस देहा देह देहाभिमानी व्यक्ति जो है ये भी आश्री स्वभाव के हैं मैंने शास्त्र इनको सबको बताता है कि देखो इनसे बचना चाहिए ये आश्री स्वभाव है पीड़ा पहुंचाने वाला है व्यक्ति को पतन की तरफ ले जाने वाला है इसलिए इन दुष्प्रवृत्तियों से बचना चाहिए और एक बात और बता दी तुलसीदास ने एक एक जग जीत सक ये सब जो इतनी दुष्प्रवृत्तियां हैं ये इतनी शक्तिशाली हैं कि एक ही सारे संसार को जीत सकती हैं जैसे एक काम है हाँ, वो काम ही इतना महान शक्तिशाली है कि सारे संसार को जीत ले सारे संसाधन तीनों लोगों के जितने भी प्राणी हैं स्वर्ग से लेकर के नरक तक के सबको जीत लेने के लिए समर्थ एक काम ही है हम्म? उसने सारे विश्व को अपने बस में कर रखा है अब आगे चल करके जहाँ देखते हैं तो स्थान आता है इसका विस्तार दिखाते हैं भगवान राम जब जाते हैं वहाँ जनकपुरी में और वहाँ पुष्प वाटिका की कथा आती है वहाँ भगवान कहते हैं कि देखो ये काम जैसे <clears throat> वो सीता जी जब आती हैं तो उनके नूपुरों की ध्वनि सुनाई देती है तो भगवान राम कहते हैं कि देखो ऐसा लगता है कि कामदेव नगाड़ा बजाता हुआ चला रहा है और उसने सारे विश्व को तो विजय कर रखी है बस एक हम ही छूट गए थे तो वो सोचता है कि इनको भी हम अपने बस में कर लें बस फिर एक छत्र राज्य होगा दुनिया में कोई कहने वाला नहीं होगा कि इससे हम बचे हुए हैं इसके ऊपर हमने विजय प्राप्त कर ली है तो जैसे काम सारे संसार को अपने बस में कर किए हुए है ऐसे ही जितने भी और भी ये सब निशाचर हैं क्रोध हैं लोभ हैं मोह हैं ये इतने शक्तिशाली प्रवृत्तियां हैं ये सारे विश्व को अपने बस में कराते हैं विश्व के मैंने पृथ्वी आकाश छोड़े विश्व के मैंने सभी प्राणी जितने उन सबको ऐसे शक्तिशाली हैं बस एक बात इतनी ही है कि परमात्मा इनसे भी ज्यादा शक्तिशाली बस एक बात ही बच गई नहीं तो बातचीत तो परमात्मा को छोड़ो तो फिर ये सब इनके समान फिर कोई दूसरा शक्तिशाली है नहीं और ये सब माया का परिवार है ये जितने भी जितने सब ये है सब <clears throat> माया का परिवार सब काम क्रोध लोभादि मत सकल मोह के आधार ये सब जितनी मोह की सेना जो है सब सब माया का परिवार है व्याप रहे हो संसार में सारे संसार में ये माया का परिवार व्याप रहा है <clears throat> बस इसके समान कोई और दूसरा बलवान नहीं अगर कोई चाहता है कि इन निशाचरों से बचे तो एक परमात्मा की शरण जाओ अब इन निशाचरों की कथा खत्म हो जाएगी तो उसके बाद देखते हैं सब देवता लोग इकट्ठे होते हैं और इसी निर्णय पर पहुंचते हैं कि भाई हम लोगों को किसी की कोई सामर्थ्य नहीं है कि जो इनसे विजय प्राप्त कर सकें चलो भाई परमात्मा की शरण चलो उसी से प्रार्थना करो वही हमको बचावे तो बचावे आगे देखिए काम रूप जान ही सब माया सपने हूँ जिनके धर्म दाया दसमुख बैठ सभाय बारा देखे अमित आपन परिवारा सुख समूह जन परिजन नाती कुमार न साचर जाते सेन बिलोक सहज अभिमानी भोला वचन क्रोध मदसानी सुनहु सकल रजनी चर जूठा हमारे बैरी विबुद बरूथा ते मुख नहीं करही लड़ाई देख सबल रुक जाही पराई दिन कर मरद कभी दियोई कहा बुझाए सुनऊ सब अवसोई तुझ भोजन मत होम शराधा सब कह जाए करो तुम बाधा सुधा छीन बलहीन सुर सहज मिली आए सब मारियों की छाड़ियों भली भात अपनाए रामचंद्र की जय पवन सुत हनुमान की जय गुरु वैष्णव संतन की जय काम रूप जान ही सब माया आप कहते हैं कि देखो ये सब निशाचर जो है वो सब माया जानते हैं <clears throat> माया क्या जानते हैं काम रूप है जब जैसा चाहें वैसा रूप धारण कर लेते हैं <clears throat> अपनी इच्छा अनुसार रूप धारण कर लेना काम रूप इन निशाचरों को <clears throat> काम रूप करके जगह जगह बोला गया है गीता में भी इनको काम रूप कहा गया है इसलिए तुलसीदास जी भी जगह जगह इनको काम रूप कहते हैं भगवान ने तीसरे अध्याय में कहा कि देखो कामेश क्रोधेश रजगुण सबुद्भवा वो जहां उसका वर्णन किया तो वहां पर भगवान ने दो बार उसी के आगे श्लोकों में कहा कि ये सब काम काम कामरूप है <clears throat> कामरूप तो मैंने कामना के ही सब रूप हैं एकत्र तो ये है? काम का ही दूसरा रूप क्रोध है काम का ही दूसरा रूप लोभ है काम का ही दूसरा रूप मोह है <clears throat> जितने मद मत्सर इत्यादि जितने हैं ये सब काम के ही नाना रूप हैं जब तक व्यक्ति अविद्या में है और कामना से ग्रसित है कामना की वृत्ति उसके अंदर विद्यमान है कामना मैंने विषय भोगों का संग्रह उनका और भोगना उनका सुख उनमें मानना इस प्रकार की प्रवृत्ति जब तक व्यक्ति में है तब तक उसमें क्रोध लोभ मद मत्सर आखंड छल इत्यादि ये सब भी उसके अंदर <clears throat> ये सब आ जाते हैं वो भी बढ़ते रहते हैं अगर मान लो कोई व्यक्ति ईर्षा भी करता है किसी दूसरे व्यक्ति से तो ये ईर्षा क्या है ये काम का ही एक दूसरा प्रकारांतर रूप है मन में काम क्या कि जो जो धन संपत्ति हम चाहते थे जो पद हम चाहते तो हमको नहीं मिला दूसरे को मिल गया वो दूसरे को न मिलता हमको मिल जाता इस प्रकार की जो वृत्ति है वो व्यक्ति की ईर्षा है <clears throat> तो कामना भी ईर्षा भी कामना का ही रूप है क्रोध जो है वो तो कामना का रूप है ही है साफ साफ भगवान ने बता दिया गीता में कि देखो कि पहले जब व्यक्ति की ध्याते विषयान संसार संगत से सूप जायते संगात संजायते कामा कामात क्रोध हो भी जायते कामात क्रोध हो भी जाते कि मैंने काम ही जो है क्रोध बन जाता उसी से काम जब व्यक्ति में कामना होगी तो वही क्रोध भी उत्पन्न हो जाएगा <clears throat> कामना केवल धन की ही कामना नहीं कामना जो है ये है भौतिक सुख की कामना कीर्ति की कामना स्वर्ग की कामना ये तीनों प्रकार की कामना इसमें आती है भौतिक सुख की कामना में शब्द स्पर्श रूप प्रसगंध जगत के जो विषय हैं इनकी इंद्रियों के द्वारा इनका भोग प्राप्त होना ये भौतिक सुख की कामना इनका विस्तार करके पांच भागों में बांट दिया गया इस प्रकार से जहां भी अगर किसी व्यक्ति को कीर्ति की कामना भी होगी और अगर कोई व्यक्ति उसकी प्रशंसा करे तो तो वो प्रसन्न होगा चाहे झूठी करे चाहे सच्ची करे अगर प्रशंसा करे तो तो वो बहुत भला आदमी अगर प्रशंसा नहीं करता निंदा कर देता है कोई दोष बता देता है तो बस आग बबूला हो गए क्रोध आ जाएगा क्यों कि कामना ये थी कि हमारी प्रशंसा हो जब अपनी प्रशंसा की कामना व्यक्ति करेगा और कोई उसकी प्रशंसा नहीं करके निंदा कर देगा तो आप समझ लो क्या होगा हाँ? क्रोध आएगा कि नहीं आएगा तो क्रोध कोई ऐसा ही नहीं कि भौतिक कोई और धन संपत्ति की कामना हो और वो प्राप्त न होती हो तभी क्रोध आता हो क्रोध तो कोई भी कामना होगी वो कामना जब तृप्त व्यक्ति की नहीं होगी तो उसकी प्रतिक्रिया रूप में क्रोध उत्पन्न होगा <clears throat> अब क्रोध के अनेक रूप हैं जो यहां पर नहीं बताया गया आगे चल करके देखेंगे तो क्रोध के भी अनेक रूप हैं काम के भी अनेक रूप हैं जैसे अभी बताया काम का रूप एक काम का रूप भौतिक सुख है अब भौतिक सुख में काम का एक रूप है शब्द काम का दूसरा रूप है स्पर्श तो गीता में भगवान कहते हैं कि ये काम जो है वो इन इंद्रियों में बात करता पांचों इंद्रियां जो है मैं यहाँ बात करता यहाँ बात करता यहाँ आप यहाँ से भगा दो यहाँ आ जाएगा यहाँ से भगा दो यहाँ आ जाएगा माने इन इंद्रियों में एक न एक इंद्रिय में ये काम बात करता है अगर सब इंद्रियों से भगा दो तो मन में जाकर बैठ जाए आप समझो कि किसी इंद्रिय से हम भोग कर ही नहीं रहे इसलिए कोई जो है वह हमें काम से कोई मतलब ही नहीं काम से विजय प्राप्त हो गई लेकिन वो मन में बैठा हुआ है आप मन से उसे भगा दोगे बुद्धि में जाकर के बैठ जाएगा <coughs> इसलिए भगवान ने कर दिया उसके तीन ठिकाने इन तीनों ठिकानों में काम बात करता है और वो भागा भागा फिरता है अगर आप उसको ललकारोगे पीछे पड़ोगे तो वो सब भागेगा और रूप बदल देगा अपने जा करके एक यहाँ पर जब स्रोत्र में होगा तो वो एक रूप में दिखाई देगा जब तुक में पहुंचेगा तो उसका रूप वही दूसरा होगा जब यहाँ पर नेत्र में पहुंचेगा तो उसका फिर रूप अपना बदल देगा ये सब विचार की बातें प्रकार क्या कहते हैं ये सब बार बार विचार करना चाहिए कि रूप कैसे काम रूप अपना बदलता है ये काम रूप क्यों है <clears throat> ये इस प्रकार से अपने तरह तरह के रूप बदलता रहता है तो एक तो काम स्वयं कामना का ही के नाना रूप है और दूसरे फिर कामना का दूसरा रूप कामना का क्रोध लोभ इत्यादि है ये भी कामना ही के रूप है इसलिए ये सब <clears throat> जितना भी परिवार जितना ये ये सब का सब ये है अविद्या से उत्पन्न मोह से उत्पन्न और फिर कामना क्रोध इत्यादि के ये सब परिवार हैं इनके सबके रूप बदलते रहते हैं इसलिए ये बात अच्छी तरह समझनी चाहिए काम रूप का तात्पर्य क्या है काम रूप जाने ही सब माया <clears throat> बस यही इनकी माया है ये रूप बदलते हैं माया से भी संकेत इस बात का मिल जाता है <clears throat> कि परमात्मा तो माया के अतीत है परे है लेकिन जहाँ इन वासनाओं के अधीन जहाँ कहीं हुआ बुद्धि हुई मन हुई तो ये सब माया के अंतर्गत है वो माई का जाल इस प्रकार का है कि जहाँ पर ये काम की उत्पत्ति होती है फिर यहाँ जाता है यहाँ जाता है यहाँ जाता है फिर क्रोध भी बनता है लोभ भी बनता है मन मच्छर भी बनता है इसके मन माया के अंदर मोह के अंदर अज्ञान के अंदर ये सारी लीलाएं इनकी निशाचरी लीलाएं इसी के भीतर चलती रहती है <clears throat> सपने हो जिनके धर्म न दाया और सपने में भी कहते हैं कि इनके धर्म और दया नहीं <clears throat> ये तो एक मुहावरा है कि न दया न धर्म ऐसे करके बोलते लोग जैसे तुलसीदास ने एक मुहावरे की तरह से बोल दिया ये तो इनको तो अधर्म में ही इनकी रुचि है <clears throat> और धर्म में इनकी कोई रुचि नहीं है हम्म, ये सब <clears throat> अधर्म के द्वारा इनको यही लगता है कि अधर्म के द्वारा ही सब प्राप्त हो सकता है कामनाओं की पूर्ति अधर्म के द्वारा ही हो सकती है अन्यथा नहीं हो सकती इसलिए सब अधर्म में ही प्रवृत्त रहते हैं और ये भी जानते हैं ये सब जैसे निशाचरी प्रवृत्तियां हैं उनको ये भी पता है कि अगर हम दया करने लगे दूसरों पर तो बस फिर तो हम मारे गए बेकार हो गए फिर हम तो दुनिया में कुछ कर ही नहीं पाएंगे ऐसे ही बोलते हैं लोग अरे कहा कि हम दया करने लगे लोगों को देखने लगे कि किसको हमसे हानि हो रही किसको लाभ हो रही है तो हम जिंदगी में कर ही क्या पाएंगे मैंने कुछ नहीं कर पाएंगे ये धारणा उनकी रहती है इसलिए दया का तो नाम ही नहीं है <coughs> वो अपने जो जिस प्रकार से जो वो उसी प्रकार से अपने <coughs> दुष्प्रवृत्तियों में पड़े हुए उसी प्रकार से काम क्रोध आदि वृत्तियों में पड़ करके <coughs> घोर कर्म करेंगे ये स्थिति लोग तो दसमुख बैठ सभा एक बारा ये तो अब इन लोगों की सबकी जैसी प्रवृत्ति थी वो बता दी अब कहते हैं देखो अब अब थोड़ी घटनाक्रम चलना चाहिए आगे फिर रावण के फिर ये सब हो गया तो अब ब्राह्मण ने क्या हुआ कि दशमुख को बैठ सभा एक बारा एक बार की कथा ये है कि रावण अपने दरबार में बैठा हुआ था देख अमित अपार <clears throat> आपन परिवारा और रावण ने सब देखा कि अच्छा अब हमारा खूब परिवार बढ़ गया अमित के मैंने बहुत विस्तार देखा दरबार में उसके सब उसके जितने हैं वो परिवार के वो सब बैठे हैं कौन कौन है सुत समूह जन परिजन नाती ये सब है सुत समूह सुतों का समूह एक आध पुत्र नहीं सौ पुत्र रावण के प्रसिद्ध है वो वो और जन परिजन फिर उसके जो है जितने के सेवक इत्यादि हैं और फिर उनके जितने रिश्तेदार हैं पुत्र हुए पुत्रों के विवाह हुए फिर उनके जो है जिन जिन पत्नियों से विवाह हुए उनके पिता हैं उनके भाई हैं वो सब इस प्रकार का उनका विस्तार उधर है और फिर नाती हैं पुत्र हुए पुत्रों के भी पुत्र हुए इस प्रकार से ये बहुत विस्तार इनका परिवार का हुआ गने को पार निशा जाती ये निशाचर जाति को भला कौन गिन सकता है कितने गिनने में जाते तो इसके माने निशाचर के माने क्या हुआ कि जो व्यक्ति की तामसी प्रवृत्तियां हैं जो व्यक्ति की इस प्रकार से आसुरी स्वभाव व्यक्ति के हैं उसके वृत्तियां उस प्रकार के हैं ये आसुरी वृत्तियों की कोई गिनती नहीं बहुत है अब जैसे गिनती में ऐसे गिनती सब मुख्य मुख्य नाम गिना दिए <coughs> तो कह दिए पांच छह जो है ये मुख्य मुख्य है <coughs> एक मोह तो है ही है उसके बाद काम क्रोध लोह मद मत्सर इस प्रकार के जो है ये है और भी हैं पांच छह तो मुख्य मुख्य तो सेना ही पद है और फिर उनके सब सेनापतियों के नीचे में कई सेनाएं हैं एक एक सेनापति के अंदर में रथों वाली सेना भी है घोड़ों वाली सेना भी है उस प्रकार की सेना भी उस प्रकार की सेना तो डिवीजन है फिर उनके हर जितनी भी सेनाएं हैं उनके सबके सेनाध्यक्ष अलग अलग हैं और फिर उनके उन्होंने फिर अपनी टुकड़ियां बांट रखी हैं फिर उनके प्रकार अंतर उस प्रकार से हैं तो उनके उनके सब गठनायक अलग अलग हैं गठनायक हैं सेना नायक हैं सेनापति हैं ये फिर एक एक सेना किस प्रकार फिर दूसरे सेनापति की फिर उसकी सेना है फिर उसी इसी प्रकार से सेना नायक हैं फिर उसी के गठनायक हैं इस प्रकार से विस्तार उनका सत्ता जैसे आजकल भी मिलिट्री में आप देखो उनके रैंक डिफरेंट रैंक होते हैं उस प्रकार से इनके डिफरेंट रैंक जैसे पहले भी इन्होंने <clears throat> शास्त्रकारों ने सोचे इसी प्रकार से डिफरेंट रैंक इनकी होती सर अब सब क्रोध का रूप तो सब लोग जानते हैं जब प्रकट रूप क्रोध का होगा तो लोग किस प्रकार चिल्लाएगा बोलेगा लाख लाल करेगा पीली करेगा चिड़चिड़ाएगा मुंह सब बनाएगा चिड़ा करेगा ये सब बातें तो आ गई क्रोध में <clears throat> लेकिन उसके प्रकारांतर भेद भी है हम्म, ऐसा न भी करे कोई व्यक्ति उल्हाना दे तो भी क्रोध का ही है मैने वाह वाह आप जैसा कौन महान होगा आप जैसा बुद्धिमान कौन होगा आप समझ रहे हो ये क्रोध नहीं है, है? क्रोध ही का लक्षण ये भी लेकिन ये जो है वो मुख्य सेनापति नहीं है वो जो सेना के घटनायक इत्यादि हैं उनकी सेना के सब लोग हैं ये भी आप कहेंगे ये कुछ नहीं तो बात यह कि हम सब लोग उसी बीच में रहते रहते आदि हो गए तो कोई ज्यादा उनको जो है वो <laughs> उनको ये नहीं कि हाँ ये तो बड़े भयंकर है इससे सावधान रहो सब सहन करते रहते हैं उनकी मार खाते खाते लद्दड़ बन गए हम्म? नहीं चाहते कि इससे छुटकारा कम्प्रोमाइज करते रहते हैं उनसे चलो ठीक है <clears throat> किसी ने उपहास करता है तो वो भी उसका उपहास भी क्रोध का ही एक रूप है <clears throat> लेकिन उपहास करता है तो भी सहन कर लेते हैं कोई बात नहीं करते <clears throat> उसका कोई बहुत बुरी बात नहीं है ऐसे करके ये सब स्थितियां संसार में एक प्रकार के होगा लेकिन आध्यात्मिक दृष्टि देखो <clears throat> तो ये सब के सब जो है ये बहुत ही कुत्सित है निकृष्ट बातें हैं खारी दुर्गुण है सब इनको सहन नहीं करना चाहिए अब दूसरे के ऊपर तो बस नहीं उसको तो जैसा होगा तैसा होगा कम से कम अपने अंदर जब इस प्रकार के ये आश्री स्वभाव इस प्रकार की प्रवृत्तियां उत्पन्न हो तो इनको क्षमा नहीं करना चाहिए इनसे बचें नहीं तो फिर ये क्या करते हैं कि ये बड़े ही <clears throat> निर्दयी हैं अब ये किसको कष्ट देंगे दूसरे को नहीं ऐसे निर्दयी हैं कि स्वयं हमारे अंदर उत्पन्न होंगे और हम ही को कष्ट देंगे <clears throat> तो ये इसका विशाल समुदाय इतना जितना जो है तो वो उसने क्या किया कि सेन विलोक सहज अभिमानी रावण ने देखा कि अपनी इतनी विशाल सेना है तो रावण का अभिमान सहज अभिमान देखो ये जब मोह होगा तो अभिमान भी होगा और अभिमान भी कैसा उस समय उसका सहज अभिमान सहज अगर अज्ञान है तो अभिमान होगा ही होगा कोई व्यक्ति जान बुझ करके अभिमान थोड़ा करता वो तो अपना स्वभाव चूंकि अविद्या में पड़ा हुआ है इसलिए उसके अंदर अपने आप से ही अभिमान उत्पन्न होता है तो कहते हैं सहज अभिमानी है बोला वचन क्रोध मधुसानी अब उसने उन सब लोगों को देखा अच्छा हमारा इतना बड़ा परिवार और इतनी बड़ी सेना इतना सब होते हुए भी हम लोग देवताओं से डरते रहेंगे कोई बात है ऐसे झड़का सबको बोला वचन क्रोध मधुसानी अब जितने भी इसमें जाते हैं रावण के साथ में अभिमानी भी है क्रोध भी है मद भी है, है? अब देखो ये सब जो है जब जब मोह होगा तो काम भी होगा क्रोध भी होगा मद भी होगा ये सब उसके जो है ये उनका नाम भी लेते जाते हैं और यही सब उसके परिवार के लोग हैं बोला वचन क्रोध मदसानी और सुनो सकल रजनी कर जूठा सबसे कहने लगे ये निशाचर समूह सब लोग तुम सुनो हम क्या कहते हैं हमारे बैरी विबुद बरूठा हमारे शत्रु कौन है विबुद के माने देवता जितने भी देवता है वो भरूच कम समूह जितने भी देवता है वो सब हमारे शत्रु हैं अब यहाँ देवता के माने क्या हुआ जो हमारी दैवी संपत्तियां हैं क्षमा दया करुणा शांति प्रसन्नता उत्साह सेवा ये जितने भी लक्षण हैं <clears throat> ये सब दैवी संपत्ति है तो निशाचर बोलते हैं कहते हैं कि देखो ये सब जितनी दैवी संपत्तियां हैं ये सब हमारे एंटागोनिस्ट हैं बिल्कुल विरोधी हमारे हैं और हमारे इनसे हमारा इनसे कोई तालमेल नहीं हमें ये ऐसा नहीं हो सकता कि हमारी शरण में आ जाए तुम्हारे कभी कभी ऐसा भी होता है कि कोई कोई देवता जो है वो सदवृत्तियां जो है वो निशाचरों के सामने समर्पण कर देती हैं और उन्हीं के साथ आ जाती हैं अपनी रक्षा के लिए देवता लोग आ जाते हैं कभी कभी निशाचरों के अधिकार में आ जाते हैं वहां पर व्यवहार कैसे करते हैं वो निशाचरी व्यवहार देवता भी करते हैं <clears throat> जैसे कोई निशाचरी स्वभाव का व्यक्ति है मोह में तो पड़ा हुआ है कामनाओं से ग्रसित है <clears throat> कामनाओं का माने वो चाहता है कि धन संपत्ति खूब हमको प्राप्त हो हाँ, खूब वैभव सुख इत्यादि हमको प्राप्त हो ये कामना भी व्यक्ति को है लेकिन ऐसा व्यक्ति कोई दूसरा व्यक्ति उसके पास आता है तो जानता है कि इस व्यक्ति से हमारा काम चल सकता है हाँ? <clears throat> हालांकि उस व्यक्ति को वो <clears throat> कोई उसके साथ में उसको दया भाव उसमें नहीं है लेकिन वो जानता है जिससे हमारा काम चल सकता है और लड़ने भिड़ने के बजाय अगर हम युक्ति से काम लें तो इससे हमारा काम ज्यादा चल सकता है तो क्या करेगा उसके सामने बड़ा मधुर बोलेगा बड़ी विनम्रता करेगा हाथ भी जोड़ेगा पैर भी छोड़ेगा और बड़ी मधुरता से कहे हा हा हा ये आपने तो बड़ी कृपा की हम तो आपके सुतरा अब वो जो मधुर बोल रहा है वो कौन है वो देवता है जो निशाचर के निशाचर ने पकड़ रखा है और उसके द्वारा काम करा रहा है कॉम्प्लिकेटेड प्रॉब्लम है ऐसा नहीं है कि इतना बिल्कुल इतना बिल्कुल सिंपल सा ऐसा करके हो <laughs> कि जो है ऐसे करके आपने कह दिया कि इस प्रकार में <clears throat> बस उतने ही मान लें कभी कभी निशाचर लोग इन देवताओं को भी पकड़ लेते हैं और अपना काम कराते हैं हम्म। जैसे आगे चल करके कहीं कहीं इसमें तो रामायण न हो वाल्मीकि रामायण में इत्यादि में है <clears throat> कहते रावण ने देवताओं को पकड़ लिया <clears throat> और उनके द्वारा अपने घर का काम कराता हम्म। अपने घर का काम कराता कि माने शनिश्चर को पकड़ लिया और शनिश्चर को मुंह के पर उल्टा जमीन में लिटाया और पत्थर की तरह से उसके पे बैठ के ऊपर स्नान करता क्योंकि शनिश्चर की दिशा न पड़े अपने मुंह और शनिश्चर जिसको देख लेता है उसके ऊपर उसका जो है वो हन पहुंचाता है तो शनिश्चर की दृष्टि हमारे ऊपर न पड़े इसलिए उसको उल्टा लटाया और उसके ऊपर बैठ करके अपना जो है वो स्नान कर रहा है उसकी पीठ पर पीठ उसकी चौकी बन गई ऐसे ये देवता जितने लोग थे ये सब ब्राह्मण क्या बोलते हैं कोई पानी भर रहा है कहीं उसकी कोई दूसरी सेवा कर रहा है तो ये सब देवता लोग उसके यहाँ आकर के सेवा करते ऐसे निशाचरों के यहाँ आकर के देवता भी सेवा करते लेकिन देवता तो अपने ढंग से सेवा करेंगे <clears throat> जैसा कि अभी बताया कि वो उदारता क्षमा दया ये भाव भी निशाचर दिखाएंगे लेकिन ये मतलब नहीं है कि उनके अंदर अब वो वृत्तियां उनकी बदल गई हैं अब वो देव स्वभाव के हो गए हैं ऐसा कुछ नहीं है वो तो इनको सबको इसलिए प्रयोग में ला रहे हैं जिसके उनका आसुरी स्वभाव और आसुरी बल उनका और अधिक बढ़ता चला जाए वो तो उनके चिकड़ में है सब एक जगह जगह तुलसीदास कहते भी रहते हैं कि कहीं कोई जगह वो हो कोई कोई लोग इस प्रकार के होते हैं जैसे मोर की तरह से मोर के माने क्या खाए महा अही हम्म। बोल खाने खाते तो जो है वो सर्व खाते हैं और बोले मधुर वचन जिम मोरा और <clears throat> बोलते मधुर वचन है मैंने खाए महा है कि मैंने आसुरी स्वभाव के तो हैं और बोलते कैसे हैं मधुर वचन जिम मोरा जैसे मोर मोर बोले तो मधुर और खाए सर इसी प्रकार से आसुरी स्वभाव के लोग <clears throat> अपने आसुरी स्वभाव प्रवृत्ति तो उनकी आसुरी है वही स्वार्थ वही काम वही क्रोध वो सब भरा हुआ है और बोलने को वो नहीं मधुर वचन जिम हो रहा तो ऐसे कोई तो अब ये तुलसीदास जी कहते हैं कि ऐसे लोगों से विश्वास भी नहीं करना चाहिए कि मधुर वचन बोल दिए तो ये देखो कि मधुर वचन बोलने वाला जो है वो दैवी संपत्ति का है कि आसुरी संपत्ति का है डोमिनेट कौन वृत्ति कर रही है अगर आश्री संपत्ति डॉमिनेट तो कर रही है तो चाहे जितना मधुर वचन बोले उसके चक्र में मत पड़ो सावधान रहो <clears throat> तो ये सब इस प्रकार के निशाचर जितने समूह थे हमरे बैरी विरुद्ध गुरु था इन निशाचरों के जो ये है शत्रु जो है ये है सब देवता जो है उसके विरोधी हैं शत्रु हैं और तेज सन्मुख नहीं करें लड़ाई कहते हैं वो सामने आकर के लड़ते नहीं देवताओं का ये जहाँ निशाचरों ने अपनी गर्जना की तहाँ ये दैवी संपत्तियां जितनी भाग जाती हैं आमने सामने इनका युद्ध नहीं होता है यदि ये निशाचर लोग जब हम हम लोग इनके ऊपर आक्रमण करते हैं स्वर्ग में गए वहां इनके ऊपर आक्रमण किया तो ये सबके सब भाग जाते हैं वहां पर मिलते ही नहीं <clears throat> अब इनको कैसे बस में किया जाए कैसे इनको मारा जाए कैसे क्या किया जाए तो फिर एक युक्ति बताता है <clears throat> देख सकल रूप जा पर आई जैसे हमको देखते हैं तैसे ये सब निशाचर लोग ये सब देवता लोग भाग जाते हैं तो तिनकर मरण एक विध हो कहा कि सामने आवे तो, तो मार दे जब सामने ही नहीं आते तो फिर कैसे मारे इनको तो कहा एक उपाय उसका मारने का कर्म बताते हैं कैसे ये देवता मरेंगे कहो बुझाए सुनो अब सोई हम सबको समझा करके कहते हैं कि देखो ये है मरने का जो उपाय है अगर इनको मारोगे नहीं तो ये दुश्मन सदा हमारे बने रहेंगे तो दुश्मन को कभी छोटा नहीं समझना चाहिए उसको मार के खत्म करना चाहिए ये भाग जाते हैं तो भी इनको भागे को ये नहीं समझना चाहिए क्योंकि देवता भाग गए तो चलो अब क्या हम तो जीत ही गए ऐसे विश्वास करके नहीं बैठना चाहिए ये देवता लोग कभी शक्तिशाली भी हो सकते हैं हमारे ऊपर आक्रमण कर दे इसलिए इनसे बचाव करने के लिए देवताओं को सफाया करो मारो इनको रहने मत दो तो कैसे इनको समाप्त करें कि दुज भोजन मक होम सराधा सबके जाय करो तुम बाधा जहाँ कहीं तुम देखना कि कहीं दुज भोजन हो रहा है कहीं मख यज्ञ हो रही है होम हो रहा है श्राद्ध हो रही है इस प्रकार के कार्य जहाँ कहीं हो रहे हैं जाओ बस उनको होने मत दो अगर इनको होने दोगे तो ये देवताओं को इन्हीं से बल प्राप्त होता है अब बस देखो ये एक ये जो है ये शास्त्र किस प्रकार से बोलते रहते हैं अन्य अन्य शास्त्र भी दूसरी राशि उसी प्रकार से कहते हैं <clears throat> कि देवताओं के रक्षक कौन है देवताओं को बल देने वाले कौन है ये सब है अगर कोई व्यक्ति धर्म का आचरण कर रहा हो सत्कर्म कर रहा हो देवताओं की पूजा कर रहा हो उनको हवन में उनकी आहुतियां दे रहा हो या उनको देवताओं को कोई जो वो आवाहन कर रहा हो तो बस वो देवता लोग शक्तिशाली बनते हैं अब यदि कहीं देवताओं की कोई पूजा ही न करे कहीं यज्ञ ही न हो जितने शास्त्र हैं उन सब शास्त्रों को बंडल बांध के समुद्र में फेंक दो है हाँ? तो अब धर्म के लिए प्रेरक तत्व तो क्या रहे हैं जब तक कि धर्म के प्रेरक तत्व तो नहीं होंगे तब तक दैवी प्रवृत्तियों की रक्षा नहीं हो सकती जहां सत्संग होगा तो दैवी प्रवृत्ति की शक्ति होगी बढ़ेगी वो दैवी शक्ति बढ़ेगी जहां कहीं स्वाध्याय होगा वहां दैवी शक्ति बढ़ेगी आश्री शक्ति घटेगी जहां परमार्थ चिंतन होगा वहां देवी शक्ति बढ़ेगी जहाँ व्यक्ति पूजा करेगा देवी शक्ति बढ़ेगी भगवान का नाम जपेगा देवी शक्ति बढ़ेगी ताकि इनसे जिनसे की देवी देवी शक्तियां बढ़ती हैं देवताओं को बल प्राप्त होता है सदगुण व्यक्ति के अंदर जागृत होते हैं वे सब साधन जितने हैं उन सब साधनों का विनाश कर दो रही नहीं जाएंगे कभी कुछ प्रकार बस तो राष्ट्रीय प्रवृत्ति तो बनी बनाई है वो तो सब विजय प्राप्त उसने कर ही लिया है <clears throat> क्षुधा छीन बलहीन सुर सही से मिलिए आए कि जो जब क्षुधा जब भूखों मरेंगे ये देवता तब आकर के मिलेंगे आकर हमारी शरण में आएंगे छीन माने कमजोर हो जाएंगे जब खाने को नहीं मिलेगा शरीर में ताकत नहीं रहेगी तो बेचारे आकर के फिर हमारी शरण में आएंगे बलहीन शक्तिहीन होकर के ऐसे देवता लोग जो है सुर सहिजें मिली हैं यहाँ फिर ये लोग छिपे छिपे नहीं घूमेंगे बल्कि आकर के हमारी शरण में आएंगे हमारी सेवा करेंगे फिर हमारी जब सेवा करेंगे तब इनको खाने को देंगे हम्म, तो ये जरूर निशाचर ये चाहते हैं आश्री प्रवृत्तियां ये चाहती हैं कि देवता भी हमारी शरण में आवे और हम उन्हें अपने ढंग से इनको काम में लाएं हमारी सेवा करेंगे ऐसे करके रहे <clears throat> सब मारियों की छाणियों भली भांति अपनाए जब हमारी शरण में आ जाएंगे तो हमारी मर्जी होगी तो इनको मार देंगे खत्म कर देंगे या फिर हमारी शरण में आ जाएंगे तो उनको छोड़ देंगे हमारे अपनी सेवा कराएंगे अपने साथ रहेंगे इस प्रकार से जो ये ये लोग हमारा फिर विरोध नहीं कर पाएंगे तो ये <clears throat> इनको तो ये तो कथा तो इस प्रकार की जैसी है रावण की कथा तो है ही है लेकिन मुख्य बात हमारे अपने अंदर जो आश्री संपत्ति और दैवी संपत्ति है उनकी स्थिति विशेष क्या है वो यहाँ पर वर्णन की अब आगे सारा रामचरित मानस या कोई भी शास्त्र होगा तो सबका उसका प्रतिपाद्य विषय यही है कि हमारी निशाचरी प्रवृत्तियां समाप्त हों उनके अनुसार में देवी संपत्तियां बढ़े <clears throat> फिर हमारे मन में शांति आवे परमात्मा की भक्ति आवे ज्ञान जागृत हो मोह आज से हम निवृत्त हो समाप्त हो छुटकारा पावे तब हमको शांति विश्राम मिले तब हमको सुख मिले नहीं तो निशाचर ये लोग हमारे अंदर रह करके कोई हमको सुख थोड़ी देते रहेंगे ये तो निशाचर हमारे अंदर बैठ करके हमारे अंदर उपद्रव ही करते रहेंगे अशांति उत्पन्न करते रहेंगे दुख देते रहेंगे हमारे अंदर पीड़ा देते रहेंगे ऐसा नहीं कि निशाचर अगर क्रोध रूपी निशाचर हमारे अंदर उत्पन्न हुआ तो किसी दूसरे व्यक्ति को कष्ट पहुंचाएगा दुख देगा ऐसा नहीं है वो क्रोध रूपी निशाचर पैदा होगा तो हमारे क्रोध पित्त नित छाती जा रहा हमारी ही छाती को जलाए इसलिए जो है ये निशाचर जो है ये इनसे जो है वो बचे अपना कल्याण चाहते हैं तो अपनी रक्षा करें और ये कोई सोचने लगा ये निशाचर तो बहुत अच्छे हैं ये किसी भी दया नहीं करते हमारे अंदर आ जाए तो हम सबको विध्वंस कर रहे हैं तो ये इसके माने बुद्धि उसकी माया ने उसकी बुद्धि का हरण कर दिया उल्टी बुद्धि हो गई अपना ही विनाशी निशाचर करते हैं इसलिए अपने आप को देखें लोग संसार में वैसे समझते हैं हम क्रोध करेंगे तो हम दूसरे का नुकसान कर देंगे दूसरा डर जाए दूसरा परेशान हो जाए ये संसारिक प्रवृत्ति लेकिन शास्त्र कहते हैं कि ये निशाचर जो है क्रोधार जो है जहां पैदा होते हैं उसी को दुख देते हैं कामना जिसके मन में उत्पन्न होगी तो किसे दुख देगी जिसके मन में कामना उत्पन्न होगी वही बेहाल होगा बेचैन होगा भागे दौड़ेगा कामना का लक्षण यह है कि कोई व्यक्ति शांति बैठ नहीं सकता जिसके अंदर जैसी कामना उत्पन्न हुई उस कामना की पूर्ति करने के लिए व्यक्ति के दौड़ेगा क्यों क्यों कामना उसे कोई सुख थोड़ा दे रही है कामना उसको अशांत कर रही है दुख दे रही है तो वो व्यक्ति अपनी कामना को समाप्त करके पूर्ण करने के लिए क्यों कोशिश करता है जिससे कि उसका कामना से जनित जो दुख है वो दूर हो जाए लेकिन बुद्धि इतनी निर्मल नहीं है कि व्यक्ति अपनी कामना से ही जो दुखी हो रहा है उस दुख को पहचान सके जब वो दुख व्यक्ति का कामना पूर्ति नहीं होती तब जो उसे दुख उत्पन्न होता है तब उसे समझ में आता है कि हम दुखी हैं लेकिन वो कामना तो उत्पन्न होने, होने के साथ ही दुख देना शुरू कर देती है अगर कामना कोई सुख देने वाली वस्तु हो तो व्यक्ति अपने खूब बैठे बैठे कामना करता रहे आराम से बैठा रहा क्या जरूरत है भागे दौड़े उस वस्तु को उस कामना को पूरी करने के लिए कोशिश क्यों करे उस कामना का निवारण करने के लिए क्यों कोशिश करे कामना स्वयं सुख दे रही है ऐसा नहीं है कामना स्वयं सुख दे रही इसीलिए भागता दौड़ता व्यक्ति उस कामना को पूरी करने के लिए परेशान होता है तो ये सभी जितने भी हैं इनको सब विचार अनवय व्यतिरिक के द्वारा विचार करते करते देखो कि किस प्रकार से ये निशाचरी प्रवृत्तियां हमें अपने आप को दुख दे रही हैं इन्हीं के कारण हम दुखी हैं परेशान हैं तो इनको सबसे निवृत्त करने के लिए इनका प्रयास करें बस आगे कर नान्या स्पृहा रघुपते हृदय सुमतिये सत्यम बदा च भवान अखिलात्मा भक्ति प्रयच रघुपुं निर्भरा मे कामादिदोषरहितं कुर्मान् सञ्च श्री राम जय राम जय जय राम